अगर हम अधिक परिश्रम करें और सार्थ करें जिससे कि इस योग विद्या को वैदिक ब्रह्म विद्या को अपने जीवन में उतार सकें और अपने माध्यम से दूसरों का हम कुछ भला कर अत्यंत सावधान रहिए इतना बताने कहने पर जितना अनुशासन और जितना प्रयास करना चाहिए आप उसमें से बहुत थोड़ा कर रहे हैं ये अनुभूति सब कर सकते हैं बुद्धिमान श्रद्धालु व्यक्ति नियमों पर श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति इतना बताने पर वो अशांत हो जाएगा दुखी हो जाएगा वो सहन नहीं कर सकता अन्यथा मलिन विचारों में सारी शक्तियां हैं वो सब सहता रहेगा वो नियम पर ध्यान ही नहीं देगा परिवर्तन करो अब मंत्र पाठ करें यो भूतंच भव्यम सर्व यधिष्ठति स्वर्यचेत केवलम तस्मयी ज्येष्ठा ब्रह्मणे नम वेद मंत्र है यो का अर्थ है यो ये यौ क्या अर्थ है यौ ये और यो यो यो का अर्थ है यो का अर्थ है यो भूत पर बीता हुआ काल भूतम से भक्तिम से आगे होने वाला और ये वर्तमान काल तीनों कालों का जो अधिष्ठाता है तीनों कालों का जो पूरा का पूरा परिज्ञान रखता है तीनों कालों में जो सारे संसार को व्यवस्थित करके चलाता है और स्वर स्वरस्थित केवलम स्व आनंद स्वरूप ही जिसका स्वरूप है सुख ही जिसका स्वरूप है पूरा आनंद से परिपूर्ण है केवल दुख नहीं है उसमें शरीर जैसे लौकिक दुख सुखों में दुख होता है केवलम स्वर्य से केवलम जिसके अंदर केवल सुख है दुख है ही नहीं कसमयी कौन सी व्यक्ति है चतुर्थी छाया कौन सी व्यक्ति है नमन है मैं नमस्ते करता प्रयास ऐसा ईश्वर है जिसका हम गुण में करके शरीर को प्राप्त करना चाहिए अब बोलने का प्यास भव्यम्

जभा के अर्थित बोलने से व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है मन आत्मा शरीर बदलता है परिवर्तित होता है प्रभाव पड़ता है अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है हम आपको पढ़ाते हैं आप पढ़ते हैं हम आपको उपदेश देते हैं आप उपदेश सुनते हैं पर जब तक क्या है क्या लिखा है वेदों और ऋषिकृत ग्रंथों को समझने के लिए शब्द को जानना आवश्यक है क्या समझ में आया शब्द को जानना आवश्यक ठीक है या नहीं क्या देखना उससे वेदों को और ऋषिकृत ग्रंथों को समझने के लिए उनको अच्छी तरह से पढ़ने के लिए उनके अभिप्राय को जानने के लिए शब्द का जानना जो शब्द के विषय में नहीं जानता वो वेदों को और ऋषि ग्रंथों को नहीं समझ सकता जैसे कि पिछले इतिहास में देखो इतने अनर्थ हुए हैं आज भी होते हुए कहीं कहीं वो बिना वेद के समझे हुए अच्छा फिर उसको समझाने में आप कोई भी कठोर सी भाषा लिख दी जाए तो अच्छी नहीं लगती होगी यदि रोचक लिख दी जाए तो अच्छी लगती होगी अलंकारिक भाषा या नहीं है जी अच्छा चलो आज ये जान दो ये वेदों में एक बैल नाम की चीज लिखी है बैल क्या समझे आप वो बैल क्या है वो आज जानना आप है जी चतवारी श्रृंगा मतलब चार तीन द्रव बाधा ऋषि सप्त हस्ता तो तीन तरफ से हाँ? तीन तरफ से बना हुआ यही तो पूरा हुआ ना हाँ वृषभ बैल रो रवि ऊंचा ऊंचा चिल्लाता है शब्द करता अब बताओ आई बात समझ नहीं आई नहीं आई ये जीवात्मा उग जाते हैं सुनते सुनते परमात्मा ने सोचा होगा इनको आलंकारिक भाषा में सुनाई तो <laughs> सुनाएंगे तो कुछ रोचकता आ जाएगी अच्छा सुनो आपने सीधी सारी भाषा में ये बात जान ली भाई एक ऐसा बैल है <laughs> जी के सिंह में बारह सिंगिया कहलाता है ना वो चार वाला है चतवारी श्रृंगा और तीन पैर वाला बैल है वो वृक्ष बैल और दो शरीर बैल के और सप्त जो है इसके साथ हाथ हैं और आगे तीन तरह से बंधा हुआ है वृषभ है रो रवि की ऊंचा ऊंचा शब्द करता है और वो कांप रहे महादेव है वो और मृत्यु का विवेश और मुंह से गुजा हुआ अब बताओ क्या <laughs> कुछ समझ में आया नहीं आया रोटी खा के फल खा के मस्त हो गए आप अब सही वेद मंत्र आए न आए जो होना था जो हो गया एक हम यहां आते थे सिर्फ पढ़े लिखे थे बहुत कुछ वो अध्यापक भी रहे होंगे और हमने आज दो बार भाग ले चुके प्रसिद्ध व्यक्ति थे और मैंने उनको कथा सुना दी हो जो होना था जो हो गया वो स्वामी सर्वदानंद जी और वो यहां आए और कहने लगे देखो आप बताओ आप कितनी तैयारी की कितना सुना प्रसाद जी की कभी जैसे सर्वानंद जी ने कहा था जो होना तो हो गया लाल कपड़े उतार भी होना तो हो गया उसने ये मैंने भी होना था तो हो तो आपका खाना पीना होना था तो हो गया वेद मंत्र आए नया अच्छा फिर इसको इतनी बातों को जानने के पीछे हम इसको बोलते कैसे हैं बोल लोगे या नहीं मेरे साथ कामो धीरो चल सिंगा आनंद तो आ रहा होगा जी अब ये क्या बात है ये क्या नहीं समझ में आई हो नहीं आई है जी ऐसा बैल कभी देखा इसके तो चार तो ठीक हो नहीं देखा उन्होंने कहा कि सुनो जिन वेद मंत्रों को आप पढ़ते हो शब्द ज्ञान से शब्द विज्ञान से भाषा विज्ञान से वो वेद समझ में आता है नहीं तो नहीं आता इस वेद मंत्र की व्याख्या अनेक जगह लागू होती है यही व्याख्या दूसरी चीजों पर भी हो जाएगी तीसरी पर भी हो जाएगी ये वेदों का अपना ढंग है तो सही बात समझिए अब हम ये व्याख्या करेंगे शब्द के साथ शब्द का स्वरूप बताएंगे चतवारी श्रृंगा चार तो सींग है कौन से नाम एक अख्यात दो उपसर्ग तीन निपात चार नहीं आया समझ में फिर से सुनो भाषा के अंतर्गत अलग अलग प्रकार से एक व्यवस्था दी गई कि हमारे इस प्रकरण में भाषा में इतने प्रकार के शब्द होंगे सारे के सारे मिला तो संस्कृत भाषा में पूरे शब्दों की जातियां चार में संग्रहित कर दी गई एक तो नाम को बतलाने वाले ये तो याद है देवदत्त दत्त दिल्ली लाहौर ये क्या है और एक क्रिया को बतलाने वाले गच्छति पठती हावती खाता है पीता है दौड़ता है ये कौन से हैं क्रियावाचक है और एक उत्सर्ग है सुपुत्र है अभीत परित जो कि पीछे लग के वाक्य का अर्थ परिवर्तन कर गच्छति क्या क्या अर्थ है आगछति आता है वाक्य का बदल देता ठीक ये कौन से है उपसर्ग निपात जिनका रूप नहीं चलता अग्ने होते हैं अत्र तत्र उत्तर यत्र यहां वहां कहा जहां अब तो आ गया समझ में या नहीं आया क्यों देखने के बाद है क्या आपने मुंह में क्यों दे रहे थे चीज को क्या समझ में आया नहीं आया है हाँ जी ये समझ में आया बैल के चार दिन बैल के ये चार सिंह बैल बैल के चार चीज समझ में ये आर्य भाषा हिंदी भाषा में समझ गए आप नाम नाम सिंधिया और आख्यात कार अर्थ क्रियावाची और उपसर्ग विशेषण के रूप में आके जो अर्थ बदल देते हैं वाक्य का और जिनके रूप नहीं चलते अत्र तत्र पुत्र अधूना तब अब ऐसे हो गए चार चार तो सी हो गए अब क्या है हवा की तीन पाव तीन पैर है तीन पर चलता है एक भूत काल और भविष्य काल और वर्तमान काल तीन पर चलता है इनके तो पास जा नहीं सकता बेचारा कहां कदम रखाएगा तीन के बाद जा ही नहीं सकता तीन आगे क्या है दो शेर है एक शब्द नित्य एक अनित्य ईश्वर वाले शब्दों को नित्य मान लिया जाता है हमारे अदलने बदलने वाले शब्दों को आ गया शब्द में कहां तक पहुंचे चतवारी श्रृंगा और त्रैश्य पादा इसके अष्ट शक्ति का एक वचन त्रवश्य पादा इसके तीन दो सिर से दो सिर है नित्य और नित्यता आगे सात हाथ एक बैठ प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी शब्द कितने हो गए ये क्या है विभक्ति राम है रामौ राम रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामै रामाय राम रामेभ्य रामात् राम रामेभ्य रामस्य रामयो रामानाम रामे रामयो राम कितने होगी ये हाथ इसके यहां तक पहुंच गई और तीन तरह से बंधा हुआ है हमारे अंबैल को देख तो इतने से मान देते हैं जो हनुमान चलता है और ये तीन तरह से बंधा हुआ है अपने आप गर्व चलता को एक ही जगह से बंद नहीं कहा तीन तरह बना हुआ एक तो शर्मूर धाम और कंठ पर छाती त्रिदाबद्ध हो गया और रो रही थी बड़ा चिल्लाता है सब सोचते हैं मैं आ रहा हूं आप सुन रहे हो तो? <laughs> रो रही थी वृक्ष भय है वृक्ष भय क्यों कहा वर्षनाथ वृषभ भय ये आनंद की वर्षा करता है ध्यान दो वेदों को हमने जान लिया और उसका उचित प्रयोग किया लौकिक सुख की वर्षा करता है सुनो देवी रवि देव जो मांग है और ये मोक्ष को भी यही देता है जब हम शब्द शास्त्र को जान लेते हैं दर्शनों को पढ़ते हैं फिर वेदों को ठीक ठीक पढ़ते हैं तो वेदा में तम पुरुष महान तमादित्य वर्णम तमाशा परस्ता तमेव विश्वादी बच्चों में भी मंत्रों को जानते योगाभ्यास करते हैं तो दर्शनों रोर भी ये लौकिक सुख और मोक्ष के सुख का की वर्षा करता है एक शब्द सुप्रयुक्त है सम्यक ज्ञात है स्वर्गीय तो लोके काम दुख भवती माँ वाक्य का एक शब्द है भाई एक अच्छी तरह वाक्य जान लो सम्यक ज्ञात है अच्छी तरह जाना हुआ अच्छी तरह प्रयोग किया हुआ स्वर्गीय लोके स्वर्ग लोग में काम दुख बहुत सारी कामनाओं को पूरी कर देता ओम को जान लो एक को और उसकी विस्तार में चलते जाओ एक है शब्द है और सम्यक ज्ञान है सुप्रयुक्त है अच्छी तरह बोला हुआ आपकी तरह नहीं जैसे तीर की हुई को बोलते चले जाओ मैं भी आपको धमकाने के लिए बोलता हूं वो हमारी मेरी धमकाने की भाषा वो अनुशासन की भाषा है नहीं समझे वो मेरे लिए है आपके लिए नहीं कभी आप कहोगे स्वामी जी ऐसे बोलते हैं इसलिए मजा बोलता हूं तो अब क्या समझ में आया वेदों को जानने समझने के लिए और विधिकृत ग्रंथों को जानने समझने के लिए शब्द का स्वरूप जानना आवश्यक है और शब्द का स्वरूप ये आपके सामने आया वेद क्या रहा अब हम इसको यहीं पर विराम लेंगे Oh, हाँ, हाँ, हाँ। को राह दिखा प्रभु नगरिया की कठिन जला मन का दीप जला